पहला प्रश्न भगवान खाओ पियो और मौज उड़ाओ चार वाकों का यह प्रसिद्ध संसार सूत्र है नाचो गाओ और उत्सव मनाओ यह आपका संन्यास सूत्र है संसार सूत्र और संन्यास सूत्र के भेद को कृपा करके हमें समझाएं नरेंद्र खाओ पियो और मौज उड़ाओ चारवाकों के लिए यह साधन नहीं साध्य है बस इस पर ही पर समाप्ति है इसके पार कुछ भी नहीं है जीवन इतने में ही पूरा हो जाता है इसलिए तो उनको चारवाक नाम मिला यह शब्द समझने जैसा है चारवाक बना है चारु वाक से चारु वाक का अर्थ होता है प्यारे वचन प्रीतिकर वचन अधिकतम लोगों को यह प्रीतिकर लगा है पहला प्रश्न भगवान खाओ पियो और मौज उड़ाओ चार वाकों का यह प्रसिद्ध संसार सूत्र है नाचो गाओ और उत्सव मनाओ यह आपका संन्यास सूत्र है संसार सूत्र और संन्यास सूत्र के भेद को कृपा करके हमें समझाएं नरेंद्र खाओ पियो और मौज उड़ाओ चारवाकों के लिए यह साधन नहीं साध्य है बस इस पर ही पर समाप्ति है इसके पार कुछ भी नहीं है पहला प्रश्न भगवान खाओ पियो और मौज उड़ाओ चार वाकों का यह प्रसिद्ध संसार सूत्र है नाचो गाओ और उत्सव मनाओ यह आपका संन्यास सूत्र है संसार सूत्र और संन्यास सूत्र के भेद को कृपा करके हमें समझाएं नरेंद्र खाओ पियो और मौज उड़ाओ चारवाकों के लिए यह साधन नहीं साध्य है बस इस पर ही पर समाप्ति है इसके पार कुछ भी नहीं है जीवन इतने में ही पूरा हो जाता है इसलिए तो उनको चारवाक नाम मिला यह शब्द समझने जैसा है चारवाक बना है चारु वाक से चारु वाक का अर्थ होता है प्यारे वचन प्रीतिकर वचन अधिकतम लोगों को यह प्रीतिकर लगा है कि बस खाओ पियो मोह जोड़ाओ इसके पार कुछ भी नहीं सौ में से निन्यानबे लोग चार वाक के अनुयायी हैं चाहे वे मंदिर जाते हो मस्जिद जाते हो गिरजा जाते हो इससे भेद नहीं पड़ता हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो इससे भेद नहीं पड़ता जिंदगी उनकी चार वाक की ही है खाना पीना और मौज उड़ाना यही उनके जीवन की परिभाषा है कहें चाहे ना कहें जो कहते हैं वे तो शायद ईमानदार हैं जो नहीं कहते हैं वे बड़े बेईमान हैं उन नहीं कहने वालों के कारण ही जगत में पाखंड है मैं कल ही एक संस्मरण देख रहा था महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू को एक पत्र लिखा क्योंकि उन्हें खबर मिली कि मोतीलाल नेहरू सभा समाज में क्लब में लोगों के सामने शराब पीते तो पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर पीनी ही हो तो कम से कम अपने घर के एकांत में तो पिए भीड़ भाड़ में लोगों के सामने पीना यह शोभा नहीं देता मोतीलाल नेहरू ने जो जवाब दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है मोतीलाल नेहरू ने कहा आप मुझे पाखंडी बनाने की चेष्टा ना करें जब मैं पीता ही हूं तो क्यों घर में छिपके पीऊं जब पीता ही हूं तो लोग को जानना चाहिए कि मैं पीता हूं जिस दिन नहीं पीऊंगा उस दिन नहीं पीऊंगा आपसे ऐसी आसाना थी कि आप ऐसी सलाह देंगे अब इन दोनों में महात्मा कौन है इसमें मोतीलाल नेहरू ज्यादा ईमानदार आदमी मालूम होते इसमें महात्मा गांधी ज्यादा बेईमान मालूम होते महात्मा गांधी की मानकर ही तो सारा मुल्क बेईमान हुआ जा रहा है बाहर कुछ भीतर कुछ घर में लोग शराब पी रहे हैं और बाहर शराब के विपरीत व्याख्यान दे रहे हैं संसद में शराब के विपरीत नियम बना रहे हैं वही लोग जो घरों में छिप के शराब पी रहे हैं एक चेहरा छिपाने का एक चेहरा बताने का दिखाने के दांत कुछ और काम में लाने के दांत कुछ और लोगों को गौर से देखो तो तुम ना तो किसी को हिंदू पाओगे ना किसी को मुसलमान न जैन न बौद्ध तुम सबको चारवाकवादी पाओगे फिर ये हिंदू जैन मुसलमान भी जिस स्वर्ग की आकांक्षा कर रहे हैं वह आकांक्षा बड़ी चारवाकवादी है मुसलमानों की बहिस्त में शराब के झरने बहते बेचारा चारवाक तो यही की छोटी मोटी शराब से राजी है कुल्हड़ कुल्हड़ पियो उससे राजी है मगर बहिस्त के फरिश्ते कहीं कुल्हड़ों में से राजी होते झरने बहते जी भर के पियो डुबकी मारो तैरो शराब में तब तृप्ति होगी बहिष्ठ में सुंदर स्त्रियां उपलब्ध है ऐसी सुंदर स्त्रियां जैसी यहां उपलब्ध नहीं यहां तो सभी सौंदर्य कुमला जाता है अभी खिला फूल सांझ कुमला जाएगा अभी खिला सांझ पखड़ियां गिर जाएंगी यहां तो सब क्षणभंगुर है तो जो ज्यादा लोभी हैं और ज्यादा कामी हैं उन्होंने स्वर्ग की कल्पना की है वहां स्त्रियां सदा सुंदर होती कभी वृद्ध नहीं होती तुमने कभी किसी बूढ़े देवता या बूढ़ी अवसर अप्सरा की कोई कहानी सुनी उर्वशी की कहानी को लिखे हो गए हजारों साल उर्वशी अब भी जवान है स्वर्ग में स्त्रियों की उम्र बस 16 साल पर ठहरी सो ठहरी उसके आगे नहीं बढ़ती सदियां बीत जाती ये किन की आकांक्षाएं चूंकि मुसलमान देशों में समलैंगिकता का खूब प्रचार रहा है इसलिए बहिष्ठ में भी उसका इंतजाम है वहां सुंदर स्त्रियां ही नहीं सुंदर छोकरे भी उपलब्ध है ये किनका स्वर्ग है ये किस तरह के लोग इनको तुम धार्मिक कहते हो और हिंदियों हिंदुओं के स्वर्ग में कुछ भेद नहीं विस्तार के भेद होंगे मगर वही आकांक्षाएं वही अभिलाषाएं हिंदुओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठते ही सारी इच्छाओं की तत्क्षण तृप्ति हो जाती तत्क्षण एक क्षण भी नहीं जाता इतना भी धीरज रखने की जरूरत नहीं है वहां यहां तो अगर धन कमाना हो वर्षों लगेंगे फिर भी कौन जाने कमा पाओ न कमा पाओ एक सुंदर स्त्री को पाना हो एक सुंदर पुरुष को पाना हो हजार बाधाएं पड़ेंगी सफलता कम असफलता ज्यादा निश्चित है लेकिन स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे भाव उठा कि तत्क्षण पूर्ति हो जाती मैंने सुना है एक आदमी भटकता हुआ भूला चुका कल वृक्ष के नीचे पहुंच गया उसे पता नहीं कि कल वृक्ष थका मांदा था तो लेट की इच्छा थी थोड़ा विश्राम कर ले मन में ऐसा ख्याल उठा कि काश इस समय कहीं कोई सराय होती थोड़ा गद्दी तकिया मिल जाता ऐसा उसका सोचना था कि तत्क्षण सुंदर सैया गद्दी तकिए अचानक प्रकट हो गए वो इतना थका था कि उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला उसने ये भी नहीं सोचा कि ये कहां से आए कैसे आए अचानक गिर पड़ा बिस्तर पर सो गया जब उठा ताजा स्वस्थ थोड़ा हुआ सोचा कि बड़ी भूख लगी कहीं से भोजन मिल जाता ऐसा सोचना था कि भोजन के थाल आ गए भूख इतने जोर से लगी थी कि अभी भी उसने विचार ना किया कि ये सब घटना कैसे घट रही भोजन जब कर चुका तब जरा विचार उठा नींद से सुस्ता लिया था भोजन से तृप्त हुआ था सोचा कि मामला क्या है कहां से ये बिस्तर आया मैंने तो सिर्फ सोचा था कहां से ये सुंदर सुस्वादु भोजन आया मैंने तो सब सोचा था आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं कि भूत प्रेत चारों तरफ खड़े हो गए घबराया कहा कि अब मारे गए बस उसी में मारा गया कल वृक्ष के नीचे तत्क्षण समय का व्यवधान नहीं होता ये किन्ने बनाए होंगे वृक्ष कामियों ने ये चारवाक वादियों की आकांक्षाएं साधारण चारवाकवादी साधारण नास्तिक तो इस पृथ्वी से राजी है लेकिन असाधारण चारवाकवादी हैं उनको ये पृथ्वी काफी नहीं उन्हें स्वर्ग चाहिए बहिष्ठ चाहिए कल्प वृक्ष चाहिए अलग अलग धर्मों के अगर स्वर्गों की तुम कथाएं पढ़ोगे तो तुम चकित हो जाओगे उनके स्वर्ग में वही सब कुछ है जिसका वे धर्म यहां विरोध कर रहे वही सब जरा भी फर्क नहीं यहां कैबरे नृत्य का विरोध हो रहा है और इंद्र की सभा में कैबरे नृत्य के सिवा कुछ नहीं हो रहा है और उसी इंद्रलोक में जाने की आकांक्षा है उसके लिए लोग धुनी रमाए बैठे तपस्या कर रहे हैं सिर के बल खड़े उपवास कर रहे हैं सोचते हैं कि चार दिन की जिंदगी इसे तो दांव पर लगा के तपस्या करके एक बार पालो स्वर्ग तो अनंत कालीन तुम्हें वे नासमझ समझते हैं क्योंकि तुम क्षण के पीछे पड़े हो स्वयं को समझदार समझते हैं क्योंकि वे शाश्वत के पीछे पड़े तुमसे वे बड़े चारवाकवादी खाओ पियो और मौज उड़ाओ यही उनके जीवन का लक्ष्य भी यही नहीं आगे भी परलोक में भी उनके परलोक की कथाएं तुम पढ़ो तो वृक्ष है वहां जिनमें सोने और चांद पहला प्रश्न भगवान खाओ पियो और मौज उड़ाओ चार वाकों का यह प्रसिद्ध संसार सूत्र है नाचो गाओ और उत्सव मनाओ यह आपका संन्यास सूत्र है संसार सूत्र और संन्यास सूत्र के भेद को कृपा करके हमें समझाएं नरेंद्र खाओ पियो और मौज उड़ाओ चारवाकों के लिए यह साधन नहीं है साध्य है बस इस पर ही पर समाप्ति है इसके पार कुछ भी नहीं है जीवन इतने में ही पूरा हो जाता है इसलिए तो उनको चारवाक नाम मिला यह शब्द समझने जैसा है चारबाग बना है चारु वाक से चारु वाक का अर्थ होता है प्यारे वचन प्रीतिकर वचन अधिकतम लोगों को यह प्रीतिकर लगा कि बस खाओ पियो मोह जोड़ाओ इसके पार कुछ भी नहीं सौ में से निन्यानबे लोग चारवाक के अनुयायी हैं चाहे वे मंदिर जाते हो मस्जिद जाते हो गिरजा जाते हो इससे भेद नहीं पड़ता हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो इससे भेद नहीं पड़ता जिंदगी उनकी चार वाक की ही है खाना पीना और मौज उड़ाना यही उनके जीवन की परिभाषा है कहें चाहे ना कहें जो कहते हैं वे तो शायद ईमानदार हैं जो नहीं कहते हैं वे बड़े बेईमान हैं उन नहीं कहने वालों के कारण ही जगत में पाखंड है मैं कल ही एक संस्मरण देख रहा था महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू को एक पत्र लिखा क्योंकि उन्हें खबर मिली कि मोतीलाल नेहरू सभा समाज में क्लब में लोगों के सामने शराब पीते तो पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर पीनी ही हो तो कम से कम अपने घर के एकांत में तो पिए भीड़ भाड़ में लोगों के सामने पीना यह शोभा नहीं देता मोतीलाल नेहरू ने जो जवाब दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है मोतीलाल नेहरू ने कहा आप मुझे पाखंडी बनाने की चेष्टा ना करें जब मैं पीता ही हूं तो क्यों घर में छिपके पीऊं जब पीता ही हूं तो लोग को जानना चाहिए कि मैं पीता हूं जिस दिन नहीं पीऊंगा उस दिन नहीं पीऊंगा आपसे ऐसी आशा न थी कि आप ऐसी सलाह देंगे अब इन दोनों में महात्मा कौन है इसमें मोतीलाल नेहरू ज्यादा ईमानदार आदमी मालूम होते इसमें महात्मा गांधी ज्यादा बेईमान मालूम होते महात्मा गांधी की मानकर ही तो सारा मुल्क बेईमान हुआ जा रहा है बाहर कुछ भीतर कुछ घर में लोग शराब पी रहे हैं और बाहर शराब के विपरीत व्याख्यान दे रहे हैं संसद में शराब के विपरीत नियम बना रहे हैं वही लोग जो घरों में छिप के शराब पी रहे हैं एक चेहरा छिपाने का एक चेहरा बताने का दिखाने के दांत कुछ और काम में लाने के दांत कुछ और लोगों को गौर से देखो तो तुम ना तो किसी को हिंदू पाओगे ना किसी को मुसलमान ना जैन न बौद्ध तुम सबको चारवाकवादी पाओगे फिर ये हिंदू जैन मुसलमान भी जिस स्वर्ग की आकांक्षा कर रहे हैं वह आकांक्षा बड़ी चारवाकवादी है मुसलमानों की बहिस्त में शराब के झरने बहते बेचारा चारवाक तो यही की छोटी मोटी चार... शराब से राजी है कुल्हड़ कुल्हड़ पियो उससे राजी है मगर बहिष्त के फरिश्ते कहीं कुल्हड़ों से राजी होते झरने बहते जी भर के पियो डुबकी मारो तैरो शराब में तब तृप्ति होगी बहिष्त में सुंदर स्त्रियां उपलब्ध हैं ऐसी सुंदर स्त्रियां जैसी यहां उपलब्ध नहीं यहां तो सभी सौंदर्य कुमला जाता है अभी खिला फूल सांझ कुमला जाएगा अभी खिला सांझ पखड़ियां गिर जाएंगी यहां तो सब क्षणभंगुर है तो जो ज्यादा लोभी हैं और ज्यादा कामी हैं उन्होंने स्वर्ग की कल्पना की वहां स्त्रियां सदा सुंदर होती कभी वृद्ध नहीं होती तुमने कभी किसी बूढ़े देवता या बूढ़ी अवसर अप्सरा की कोई कहानी सुनी उर्वशी की कहानी को लिखे हो गए हजारों साल उर्वशी अब भी जवान है स्वर्ग में स्त्रियों की उम्र बस 16 साल पर ठहरी सो ठहरी उसके आगे नहीं बढ़ती सदियां बीत जाती ये किन की आकांक्षाएं चूंकि मुसलमान देशों में समलैंगिकता का खूब प्रचार रहा है इसलिए बहिस्त में भी उसका इंतजाम है वहां सुंदर स्त्रियां ही नहीं सुंदर छोकरे भी उपलब्ध है ये किनका स्वर्ग है ये किस तरह के लोग इनको तुम धार्मिक कहते हो और हिंदुओं हिंदुओं के स्वर्ग में कुछ भेद नहीं विस्तार के भेद होंगे मगर वही आकांक्षाएं वही अभिलाषाएं हिंदुओं के स्वर्ग में कल्पवृक्ष जिसके नीचे बैठते ही सारी इच्छाओं की तत्क्षण तृप्ति हो जाती तत्क्षण एक क्षण भी नहीं जाता इतना भी धीरज रखने की जरूरत नहीं है वहां यहां तो अगर धन कमाना हो वर्षों लगेंगे फिर भी कौन जाने कमा पाओ न कमा पाओ एक सुंदर स्त्री को पाना हो एक सुंदर पुरुष को पाना हो हजार बाधाएं पड़ेंगी सफलता कम असफलता ज्यादा निश्चित है लेकिन स्वर्ग में कल वृक्ष के नीचे है भाव उठा कि तत्क्षण पूर्ति हो जाती मैंने सुना है एक आदमी भटकता हुआ भूला चुका कल वृक्ष के नीचे पहुंच गया उसे पता नहीं कि कल वृक्ष थका मांदा था तो लेट ने की इच्छा थी थोड़ा विश्राम कर ले मन में ऐसा ख्याल उठा कि काश इस समय कहीं कोई सराय होती थोड़ा गद्दी तकिया मिल जाता ऐसा उसका सोचना था कि तत्क्षण सुंदर सैया गद्दी तकिए अचानक प्रकट हो गए वो इतना थका था कि उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला उसने ये भी नहीं सोचा कि ये कहां से आए कैसे आए अचानक गिर पड़ा बिस्तर पर सो गया जब उठा ताजा स्वस्थ थोड़ा हुआ सोचा कि बड़ी भूख लगी कहीं से भोजन मिल जाता ऐसा सोचना था कि भोजन के थाल आ गए भूख इतने जोर से लगी थी कि अभी भी उसने विचार ना किया कि ये सब घटना कैसे घट रही भोजन जब कर चुका तब जरा विचार उठा नींद से सुस्ता लिया था भोजन से तृप्त हुआ था सोचा कि मामला क्या है कहां से ये बिस्तर आया मैंने तो सिर्फ सोचा था कहां से ये सुंदर सुस्वादु भोजन आए मैंने तो सब सोचा था आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं कि भूत प्रेत चारों तरफ खड़े हो गए घबराया कहा कि अब मारे गए बस उसी में मारा गया कल वृक्ष के नीचे तत्क्षण समय का व्यवधान नहीं होता ये किन्ने बनाए होंगे कल्प वृक्ष कामियों ने ये चारवाकवादियों की आकांक्षाएं साधारण चारवाकवादी साधारण नास्तिक तो इस पृथ्वी से राजी है लेकिन असाधारण चारवाकवादी हैं उनको ये पृथ्वी काफी नहीं उन्हें स्वर्ग चाहिए बहिष्ठ चाहिए कल्प वृक्ष चाहिए अलग अलग धर्मों के अगर स्वर्गों की तुम कथाएं पढ़ोगे तो तुम चकित हो जाओगे उनके स्वर्ग में वही सब कुछ है जिसका वे धर्म यहां विरोध कर रहे वही सब जरा भी फर्क नहीं यहां कैबरे नृत्य का विरोध हो रहा है और इंद्र की सभा में कैबरे नृत्य के सिवा कुछ नहीं हो रहा है और उसी इंद्रलोक में जाने की आकांक्षा है उसके लिए लोग धुनी रमाए बैठे तपस्या कर रहे हैं सिर के बल खड़े उपवास कर रहे हैं सोचते हैं कि चार दिन की जिंदगी है इसे तो दांव पर लगा के तपस्या करके एक बार पालो स्वर्ग तो अनंत कालीन तुम्हें वे ना समझ समझते क्योंकि तुम भंगुर के पीछे पड़े हो स्वयं को समझदार समझते हैं क्योंकि वे शाश्वत के पीछे पड़े तुमसे वे बड़े चारवाकवादी खाओ पियो और मौज उड़ाओ यही उनके जीवन का लक्ष्य भी यही नहीं आगे भी परलोक में भी उनके परलोक की कथाएं तुम पढ़ो तो वृक्ष है वहां जिनमें सोने और चांदी के पत्ते और फूल हीरे जवारातों के ये किस तरह के लोग हैं हीरे जवारातों सोने चांदी को यहां गालियां दे रहे हैं और जो उनको छोड़ के जाता है उसका सम्मान कर रहे हैं और स्वर्ग में यही मिलेगा जो यहां छोड़ोगे वही अनंत गुना वहां मिलेगा तो जो यहां छोड़ता है अनंत गुना पाने को छोड़ता है और जिसमें अनंत गुना पाने की आकांक्षा है वो क्या खाक छोड़ता है यहां सौ में निन्यानबे व्यक्ति चारवाकवादी हैं इसलिए चारवाकों को दिया गया शब्द बड़ा सुंदर है धार्मिक पंडित पुरोहित तो उसका कुछ और अर्थ करते वो अर्थ भी ठीक है वो तो कहते हैं कि चरने चराने में जिनका भरोसा है वो चारवाक लेकिन मूल शब्द चारुवाक से बना है मधुर शब्द जिनके जिनके शब्द सबको मधुर है चारवाकों का एक और नाम है लोकायत वह भी बड़ा प्रीतिकर नाम है लोक को जो भाता है वह लोकायत अधिक लोगों को जो प्रीतिकर लगता है वह लोकायत लोक के हृदय में जो समाविष्ट हो जाता है वह लोकायत यहां धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी धार्मिक कहां हैं तुम जरा सोचना अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे जरा सोचना क्या मांगोगे अगर परमात्मा कहे कि मांग लो तीन वरदान क्योंकि पुराने समय से हर कहानी वो तीन ही वरदान पता नहीं क्यों तीन तो तुम कौन से तीन वरदान मांगोगे किसी को बताने की बात नहीं मन में ही सोचना और तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि तुम भी चारवाकवादी हो तुम्हारे तीन वरदानों में चारवाक की सारी बात आ जाएगी धर्म के नाम पर लोगों ने एक आवरण तो बना लिया है पाखंड का और भीतर भीतर वे वही है जिसकी वे निंदा कर रहे हैं મેબી કહેતા હું નાચો ગાઓ ઉત્સવ મનાઓ લેકિન નાચના ગાના ઓર ઉત્સવ મનાના ગંતવ્ય નહીં લક્ષ નહીં સાધન સાધ્ય પરમાત્મા છે ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए ऐसा गाओ गीत कि गीत ही बचे गायक खो जाए ऐसे उत्सव से भर जाओ कि लीन हो जाओ तल्लीन हो जाओ उसी तल्लीनता में उसी लवलीनता में परमात्मा प्रकट होता है मैं तुमसे ये नहीं कहता कि खाओ भी मत पियो भी मत मौज भी मत उड़ाओ मैं कहता हूं खाओ पियो मौज करो परमात्मा इसके विपरीत नहीं है लेकिन इतने पर समाप्त मत हो जाना चारवाक सुंदर है मगर काफी नहीं सीढ़ी बनाओ चारवाक की मंदिर की सीढ़ी का पत्थर चारवाक से बनाओ लेकिन मंदिर में जाना है मंदिर के देवता से मिलन करना है और वह देवता उन्हीं को मिल सकता है जो उत्सवपूर्ण है जिनके भीतर गीत की गूंज जिनके ओठों पर आनंद की बांसुरी बज रही है जिन्होंने पैरों में घुंगर बांधे भजन के अर्चन के जिनकी आंखें चांतारों पर टिकी जो रोशनी के दीवाने हैं तम सो मां ज्योतिर्गमे जिनकी एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु ज्योति की तरफ ले चल अस्तो मां सदगमे असत से सत की तरफ ले चल जिनके प्राणों में बस एक ही अभीपसा है मृत्योर मां अमृत गमे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल कितनी बार बनाया कितनी बार मिटाया ये खेल बहुत हो चुका अब मुझे शाश्वत में लीन हो जाने थे विलीन हो जाने थे अब मैं थक गया हूं होने से ये सुंदर है तेरा जगत ये खाना पीना मौज उड़ाना ये सब ठीक मगर बचकानी है ये बातें अब मुझे इनके ऊपर उठा बच्चों को खिलौना से खेलने दो लेकिन कभी बचकानेपन से ऊपर उठोगे या नहीं और बच्चों के खिलौने भी मत तोड़ो ये भी मैं नहीं कहता उनके खिलौने तोड़ दो जिस दिन वे प्रौढ़ होंगे तब वे स्वयं ही खिलौनों को छोड़ देंगे तो मेरी बात में और चारवाक की बात में बड़ा भेद है चारवाक कहता है यही लक्ष्य मैं कहता हूं यह साधन चारवाक कहता है इसके पार कुछ भी नहीं मैं कहता हूं इसके पार सब कुछ हाँ एक बात में मेरी सहमति है कि मैं चारवाक का विरोधी नहीं क्योंकि जो चारवाक के विरोधी हैं वो सिर्फ तुम्हें पाखंडी बनाने में सफल हो सके और मैं तुम्हें पाखंडी नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हारे जीवन को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहता कि घर के भीतर कुछ और और घर के बाहर कुछ और मैं तुम्हें एक रंग देना चाहता हूं ऐसा रंग जो सब तरफ सब जगह काम आए मैं तुम्हें जीवन के एक शैली देना चाहता हूं जिसमें पाखंड की गुंजाइश ही ना हो तुम्हें चार चारवाक के पक्ष में हूं क्योंकि चारवाक के जो विपरीत वे पाखंड के समर्थक हो जाते लेकिन मैं चार बाग पर समाप्त नहीं होता हूं सिर्फ चार बाग पर शुरू होता हूं बाग के लिए सन्यास जैसी तो कोई चीज है ही नहीं माया है झूठ है असत्य ब्राह्मणों की जालसाजी बाग के लिए सन्यास जैसी बात तो सिर्फ धूर्तों का जाल है मेरे लिए सन्यास जीवन का परम सत्य परम गरिमा है चारवाक के लिए संसार सत्य है सन्यास झूठ है जो चारवाक विरोधी हैं तथाकथित धार्मिक आस्तिक उनके लिए संसार माया है और सन्यास सत्य है मेरे लिए दोनों सत्य है और दोनों सत्यों में कोई विरोध नहीं संसार परमात्मा का ही व्यक्त रूप है और परमात्मा संन्यास संसार की ही अव्यक्त आत्मा है मैं तुम्हें एक अखंड दृष्टि देना चाहता हूं जिसमें कुछ भी निषेध नहीं मैं तुम्हें एक विधायक धर्म देना चाहता हूं जिसमें संसार को भी आत्मसात कर लेने की क्षमता है जिसकी छाती बड़ी है जो संसार को भी पी जा सकता है और फिर भी जिसका सन्यास खंडित नहीं होगा जो बीज बाजार में संन्यास्त हो सकता है जो घर में रह के अग्रही हो सकता है जो संसार में होकर भी संसार का नहीं होता तो एक अर्थ में मैं चार वाक से सहमत और एक अर्थ में सहमत नहीं इस अर्थ में सहमत हूं कि चार वाक बुनियाद बनाता है जीवन की लेकिन अकेली बुनियाद से क्या होगा मंदिर बनेगा नहीं तो बुनियाद व्यर्थ है और तुम्हारे तथाकथित साधु संत मंदिर तो बनाते हैं लेकिन बुनियाद नहीं लगाते उनके मंदिर थोथे होते कभी भी गिर जाएंगे गिरे ही हैं अब गिरे तब गिरे क्योंकि जिनकी कोई नींव नहीं है उन मंदिरों का क्या भरोसा उनमें जरा संभल के जाना कहीं खुद गिरे और तुम्हें भी न ले डूबे मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता हूं जिसमें संसार संसार की भौतिकता न्यू बनेगी और सन्यास और परमात्मा की गरिमा मंदिर बनेगी मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि देना चाहता हूं जिसमें किसी भी चीज का विरोध नहीं है सभी चीज का अंगीकार है और एक ऐसी कला रूपांतरण का एक ऐसा रसायन देना चाहता हूं जिसमें हम पत्थर में भी परमात्मा की मूर्ति खोजने में सफल हो जाएं और जहर को अमृत बनाने में सफल हो जाएं यह हो सकता है और जब तक यह नहीं होगा इस पृथ्वी पर दो ही तरह के लोग होंगे जो ईमानदार होंगे वो चारवाकवादी होंगे जो बेईमान होंगे वो आस्तिक होंगे धार्मिक होंगे ये कोई अच्छे विकल्प नहीं कि ईमानदार आदमी को तो चारवाकवादी होना पड़े और धार्मिक आदमी को बेईमान होना पड़े ये कोई अच्छे विकल्प नहीं है हमने दुनिया को चुनने के लिए कोई ठीक ठीक राह नहीं दी मैं तीसरी ही बात कर रहा हूं मैं कहता हूं बिना बेईमान हुए धार्मिक हुआ जा सकता है लेकिन तब चारवाक को अंगीकार करना होगा तब चारवाक को इंकार नहीं किया जा सकता खाना पीना और मौज जीवन की स्वाभाविकता है जिन ऋषियों ने कहा अन्नम ब्रह्म उन्होंने ये समझा होगा तभी कहा अन्न को जो ब्रह्म कह सके सोचकर कहा होगा अनुभव से कहा होगा अन्न को ब्रह्म कहने का क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ कि भोजन में भी उसको ही अनुभव करना स्वाद में भी उसका ही स्वाद लेना यही चारवाक को बदलने की कीमिया हुई खाओ तो उसे पियो तो उसे मौज मनाओ तो उसके आसपास वह न भूले और परमात्मा को हमने कहा रस रूप रसो वैसा और क्या चाहिए वही रस है उस रस का प्रमाण दो तुम्हारी आंखों में उसकी रसधार बहे तुम्हारे प्राणों में उसका रस गीत गूंजे तुम्हारा व्यक्तित्व उसके रस की झलक दे प्रमाण बने इसलिए कहता हूं नाचो गाओ उत्सव मनाओ इसलिए कहता हूं कि परमात्मा की तरफ जब जा ही रहे हो तो रोते रोते क्यों जाना जब हंसते हुए जाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों जाना और अगर रो भी तो तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे आनंद के ही आंसू होने चाहिए जलो भी तो उसकी आग में जलना और जब उसकी आग में कोई जलता है तो आग भी बड़ी शीतल होती और जब उसकी आग में कोई जलता है तो आग भी जलाती नहीं केवल निखारती चारवाक एक पुराना दर्शन है अति प्राचीन शायद सर्वाधिक प्राचीन क्योंकि आदिम मनुष्य ने सबसे पहले तो खाओ पियो और मौज मनाओ इसकी ही खोज की होगी परमात्मा की खोज तो बहुत बाद में हुई होगी परमात्मा की खोज के लिए तो एक परिष्कार चाहिए पहला प्रश्न भगवान खाओ पियो और मौज उड़ाओ चार वाकों का यह प्रसिद्ध संसार सूत्र है नाचो गाओ और उत्सव मनाओ यह आपका संन्यास सूत्र है संसार सूत्र और संन्यास सूत्र के भेद को कृपा करके हमें समझाएं नरेंद्र खाओ पियो और मौज उड़ाओ चारवाकों के लिए यह साधन नहीं है साध्य है बस इस पर ही पर समाप्ति है इसके पार कुछ भी नहीं है जीवन इतने में ही पूरा हो जाता है इसलिए तो उनको चारवाक नाम मिला यह शब्द समझने जैसा है चारवाक बना है चारु वाक से चारु वाक का अर्थ होता है प्यारे वचन प्रीतिकर वचन अधिकतम लोगों को यह प्रीतिकर लगा कि बस खाओ पियो मौज उड़ाओ इसके पार कुछ भी नहीं सौ में से निन्यानबे लोग चार वाक के अनुयायी हैं चाहे वे मंदिर जाते हो मस्जिद जाते हो गिरजा जाते हो इससे भेद नहीं पड़ता हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो इससे भेद नहीं पड़ता जिंदगी उनकी चार वाक की ही है खाना पीना और मौज उड़ाना यही उनके जीवन की परिभाषा है कहें चाहे ना कहें जो कहते हैं वे तो शायद ईमानदार हैं जो नहीं कहते हैं वे बड़े बेईमान हैं उन नहीं कहने वालों के कारण ही जगत में पाखंड है मैं कल ही एक संस्मरण देख रहा था महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता पंडित मोतीलाल नेहरू को एक पत्र लिखा क्योंकि उन्हें खबर मिली कि मोतीलाल नेहरू सभा समाज में क्लब में लोगों के सामने शराब पीते तो पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर पीनी ही हो तो कम से कम अपने घर के एकांत में तो पिए भीड़ भाड़ में लोगों के सामने पीना यह शोभा नहीं देता मोतीलाल नेहरू ने जो जवाब दिया वह बहुत महत्वपूर्ण है मोतीलाल नेहरू ने कहा आप मुझे पाखंडी बनाने की चेष्टा ना करें जब मैं पीता ही हूं तो क्यों घर में छिप के पीऊं जब पीता ही हूं तो लोग को जानना चाहिए कि मैं पीता हूं जिस दिन नहीं पीऊंगा उस दिन नहीं पीऊंगा आपसे ऐसी आसाना थी कि आप ऐसी सलाह देंगे अब इन दोनों में महात्मा कौन है इसमें मोतीलाल नेहरू ज्यादा ईमानदार आदमी मालूम होते इसमें महात्मा गांधी ज्यादा बेईमान मालूम होते महात्मा गांधी की मानकर ही तो सारा मुल्क बेईमान हुआ जा रहा है बाहर कुछ भीतर कुछ घर में लोग शराब पी रहे हैं और बाहर शराब के विपरीत व्याख्यान दे रहे हैं संसद में शराब के विपरीत नियम बना रहे हैं वही लोग जो घरों में छिप के शराब पी रहे हैं एक चेहरा छिपाने का एक चेहरा बताने का दिखाने के दांत कुछ और काम में लाने के दांत कुछ और लोगों को गौर से देखो तो तुम ना तो किसी को हिंदू पाओगे ना किसी को मुसलमान न जैन न बौद्ध तुम सबको चारवाकवादी पाओगे फिर ये हिंदू जैन मुसलमान भी जिस स्वर्ग की आकांक्षा कर रहे हैं वह आकांक्षा बड़ी चारवाकवादी है मुसलमानों की बहिस्त में शराब के झरने बहते बेचारा चारवाक तो यही की छोटी मोटी शराब से राजी है कुल्हड़ कुल्हड़ पियो उससे राजी मगर बहिस्त के फरिश्ते कहीं कुल्हड़ों से राजी होते झरने बहते जी भर के पियो डुबकी मारो तैरो शराब में तब तृप्ति होगी बहिष्ठ में सुंदर स्त्रियां उपलब्ध हैं ऐसी सुंदर स्त्रियां जैसी यहां उपलब्ध नहीं यहां तो सभी सौंदर्य कुमला जाता है अभी खिला फूल सांझ कुमला जाएगा अभी खिला सांझ पखड़ियां गिर जाएंगी यहां तो सब क्षणभंगुर है तो जो ज्यादा लोभी हैं और ज्यादा कामी हैं उन्होंने स्वर्ग की कल्पना की है वहां स्त्रियां सदा सुंदर होती कभी वृद्ध नहीं होती तुमने कभी किसी बूढ़े देवता या बूढ़ी अवसर अप्सरा की कोई कहानी सुनी उर्वशी की कहानी को लिखे हो गए हजारों साल उर्वशी अब भी जवान है स्वर्ग में स्त्रियों की उम्र बस 16 साल पर ठहरी सो ठहरी उसके आगे नहीं बढ़ती सदियां बीत जाती ये किन की आकांक्षाएं चूंकि मुसलमान देशों में समलैंगिकता का खूब प्रचार रहा है इसलिए बहिष्ठ में भी उसका इंतजाम है वहां सुंदर स्त्रियां ही नहीं सुंदर छोकरे भी उपलब्ध है ये किनका स्वर्ग है ये किस तरह के लोग इनको तुम धार्मिक कहते हो और हिंदुओं हिंदुओं के स्वर्ग में कुछ भेद नहीं विस्तार के भेद होंगे मगर वही आकांक्षाएं वही अभिलाषाएं हिंदुओं के स्वर्ग में कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठते ही सारी इच्छाओं की तत्क्षण तृप्ति हो जाती तत्क्षण एक क्षण भी नहीं जाता इतना भी धीरज रखने की जरूरत नहीं है वहां यहां तो अगर धन कमाना हो वर्षों लगेंगे फिर भी कौन जाने कमा पाओ न कमा पाओ एक सुंदर स्त्री को पाना हो एक सुंदर पुरुष को पाना हो हजार बाधाएं पड़ेंगी सफलता कम असफलता ज्यादा निश्चित है लेकिन स्वर्ग में कल्प वृक्ष के नीचे भाव उठा कि तत्क्षण पूर्ति हो जाती मैंने सुना है एक आदमी भटकता हुआ भूला चूका कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया उसे पता नहीं कि कल्प वृक्ष थका मांदा था तो लेट की इच्छा थी थोड़ा विश्राम कर ले मन में ऐसा ख्याल उठा कि काश इस समय कहीं कोई सराय होती थोड़ा गद्दी तकिया मिल जाता ऐसा उसका सोचना था कि तत्क्षण सुंदर सैया गद्दी तकिए अचानक प्रकट हो गए वो इतना थका था कि उसे सोचने का भी मौका नहीं मिला उसने ये भी नहीं सोचा कि ये कहां से आए कैसे आए अचानक गिर पड़ा बिस्तर पर सो गया जब उठा ताजा स्वस्थ थोड़ा हुआ सोचा कि बड़ी भूख लगी कहीं से भोजन मिल जाता ऐसा सोचना था कि भोजन के थाल आ गए भूख इतने जोर से लगी थी कि अभी भी उसने विचार ना किया कि ये सब घटना कैसे घट रही भोजन जब कर चुका तब जरा विचार उठा नींद से सुस्ता लिया था भोजन से तृप्त हुआ था सोचा कि मामला क्या है कहां से ये बिस्तर आया मैंने तो सिर्फ सोचा था कहां से ये सुंदर सुस्वादु भोजन आया मैंने तो सब सोचा था आसपास कहीं भूत प्रेत तो नहीं कि भूत प्रेत चारों तरफ खड़े हो गए घबराया कहा कि अब मारे गए बस उसी में मारा गया कल वृक्ष के नीचे तत्क्षण समय का व्यवधान नहीं होता ये किन्ने बनाए होंगे वृक्ष कामियों ने ये चारवाकवादियों की आकांक्षाएं साधारण चारवाकवादी साधारण नास्तिक तो इस पृथ्वी से राजी है लेकिन असाधारण चारवाकवादी हैं उनको ये पृथ्वी काफी नहीं उन्हें स्वर्ग चाहिए बहिष्ठ चाहिए कल्प वृक्ष चाहिए अलग अलग धर्मों के अगर स्वर्गों की तुम कथाएं पढ़ोगे तो तुम चकित हो जाओगे उनके स्वर्ग में वही सब कुछ है जिसका वे धर्म यहां विरोध कर रहे वही सब जरा भी फर्क नहीं यहां कैबरे नृत्य का विरोध हो रहा है और इंद्र की सभा में कैबरे नृत्य के सिवा कुछ नहीं हो रहा है और उसी इंद्रलोक में जाने की आकांक्षा है उसके लिए लोग धुनी रमाए बैठे तपस्या कर रहे हैं सिर के बल खड़े उपवास कर रहे हैं सोचते हैं कि चार दिन की जिंदगी है इसे तो दांव पर लगा के तपश्चर्या करके एक बार पालो स्वर्ग तो अनंत कालीन तुम्हें वे नासमझ समझते हैं क्योंकि तुम भंगुर के पीछे पड़े हो स्वयं को समझदार समझते हैं क्योंकि वे शाश्वत के पीछे पड़े तुमसे वे बड़े चारवाकवादी खाओ पियो और मौज उड़ाओ यही उनके जीवन का लक्ष्य भी है यही नहीं आगे भी परलोक में भी उनके परलोक की कथाएं तुम पढ़ो तो वृक्ष हैं वहां जिनमें सोने और चांदी के पत्ते और फूल हीरे जवारातों के ये किस तरह के लोग हैं हीरे जवारातों सोने चांदी को यहां गालियां दे रहे हैं और जो उनको छोड़ के जाता है उसका सम्मान कर रहे हैं और स्वर्ग में यही मिलेगा जो यहां छोड़ोगे वही अनंत गुना वहां मिलेगा तो जो यहां छोड़ता है अनंत गुना पाने को छोड़ता है और जिसमें अनंत गुना पाने की आकांक्षा है वो क्या खाक छोड़ता है यहां सौ में निन्यानबे व्यक्ति चारवाकवादी हैं इसलिए चारवाकों को दिया गया शब्द बड़ा सुंदर है धार्मिक पंडित पुरोहित तो उसका कुछ और अर्थ करते वो अर्थ भी ठीक है वो तो कहते हैं कि चरने चराने में जिनका भरोसा है वो चारवाक लेकिन मूल शब्द चारुवाक से बना है मधुर शब्द जिनके जिनके शब्द सबको मधुर चारवाकों का एक और नाम है लोकायत वह भी बड़ा प्रीतिकर नाम है लोक को जो भाता है वह लोकायत अधिक लोगों को जो प्रीतिकर लगता है वह लोकायत लोक के हृदय में जो समाविष्ट हो जाता है वह लोकायत यहां धार्मिक कहे जाने वाले लोग भी धार्मिक कहां हैं तुम जरा सोचना अगर परमात्मा प्रकट हो जाए तो तुम उससे क्या मांगोगे जरा सोचना क्या मांगोगे अगर परमात्मा कहे कि मांग लो तीन वरदान क्योंकि पुराने समय से हर कहानी वो तीन ही वरदान पता नहीं क्यों तीन तो तुम कौन से तीन वरदान मांगोगे किसी को बताने की बात नहीं मन में ही सोचना और तुम्हें पक्का पता चल जाएगा कि तुम भी चारवाकवादी हो तुम्हारे तीन वरदानों में चारवाक की सारी बात आ जाएगी धर्म के नाम पर लोगों ने एक आवरण तो बना लिया है पाखंड का और भीतर भीतर वे वही है जिसकी वे निंदा कर रहे हैं मैं भी कहता हूं नाचो गाओ उत्सव मनाओ लेकिन नाचना गाना और उत्सव मनाना गंतव्य नहीं लक्ष्य नहीं साधन साध्य परमात्मा है ऐसे नाचो कि नाचने वाला मिट जाए ऐसा गाओ गीत कि गीत ही बचे गायक खो जाए ऐसे उत्सव से भर जाओ कि लीन हो जाओ तल्लीन हो जाओ उसी तल्लीनता में उसी लवलीनता में परमात्मा प्रकट होता है मैं तुमसे ये नहीं कहता कि खाओ भी मत पियो भी मत मौज भी मत उड़ाओ मैं कहता हूं खाओ पियो मौज करो परमात्मा इसके विपरीत नहीं है लेकिन इतने पर समाप्त मत हो जाना चारवाक सुंदर है मगर काफी नहीं सीढ़ी बनाओ चारवाक की मंदिर की सीढ़ी का पत्थर चारवाक से बनाओ लेकिन मंदिर में जाना है मंदिर के देवता से मिलन करना है और वह देवता उन्हीं को मिल सकता है जो उत्सवपूर्ण है जिनके भीतर गीत की गूंज जिनके ओठों पर आनंद की बांसुरी बज रही है जिन्होंने पैरों में घुंगर बांधे भजन के अर्चन के जिनकी आंखें चांतारों पर टिकी जो रोशनी के दीवाने हैं सो मां ज्योतिर्गमे जिनकी एक ही प्रार्थना है कि हे प्रभु ज्योति की तरफ ले चल अस्तो मां सदगमे असत से सत की तरफ ले चल जिनके प्राणों में बस एक ही अभीपसा है मृत्योर मां अमृत कमे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चल कितनी बार बनाया कितनी बार मिटाया ये खेल बहुत हो चुका अब मुझे शाश्वत में लीन हो जाने थे विलीन हो जाने थे अब मैं थक गया हूं होने से ये सुंदर है तेरा जगत ये खाना पीना मौज उड़ाना ये सब ठीक मगर बचकानी है ये बातें अब मुझे इनके ऊपर उठा बच्चों को खिलौनों से खेलने दो लेकिन कभी बचकानेपन से ऊपर उठोगे या नहीं और बच्चों के खिलौने भी मत तोड़ो ये भी मैं नहीं कहता उनके खिलौने तोड़ दो जिस दिन वे प्रौढ़ होंगे तब वे स्वयं ही खिलौनों को छोड़ देंगे तो मेरी बात में और चारवाक की बात में बड़ा भेद है चारवाक कहता है यही लक्ष्य मैं कहता हूं यह साधन चारवाक कहता है इसके पार कुछ भी नहीं मैं कहता हूं इसके पार सब कुछ हाँ एक बात में मेरी सहमति है कि मैं चारवाक का विरोधी नहीं क्योंकि जो चारवाक के विरोधी हैं वो सिर्फ तुम्हें पाखंडी बनाने में सफल हो सके और मैं तुम्हें पाखंडी नहीं बनाना चाहता मैं तुम्हारे जीवन को दो हिस्सों में नहीं बांटना चाहता कि घर के भीतर कुछ और और घर के बाहर कुछ और मैं तुम्हें एक रंग देना चाहता हूं ऐसा रंग जो सब तरफ सब जगह काम आए मैं तुम्हें जीवन के एक शैली देना चाहता हूं जिसमें पाखंड की गुंजाइश ही ना हो तो मैं चारवाक के पक्ष में हूं क्योंकि चारवाक के जो विपरीत वे पाखंड के समर्थक हो जाते लेकिन मैं चार वाक पर समाप्त नहीं होता हूं सिर्फ चार वाक पर शुरू होता हूं चार वाक के लिए सन्यास जैसी तो कोई चीज है ही नहीं माया है झूठ है असत्य ब्राह्मणों की जालसाजी चार वाक के लिए सन्यास जैसी बात तो सिर्फ धूर्तों का है जाल है मेरे लिए सन्यास जीवन का परम सत्य परम गरिमा है चारवाक के लिए संसार सत्य है सन्यास झूठ है जो चारवाक विरोधी है तथाकथित धार्मिक आस्तिक उनके लिए संसार माया है और सन्यास सत्य है मेरे लिए दोनों सत्य है और दोनों सत्यों में कोई विरोध नहीं संसार परमात्मा का ही व्यक्त रूप है और परमात्मा संन्यास संसार की ही अव्यक्त आत्मा है मैं तुम्हें एक अखंड दृष्टि देना चाहता हूं जिसमें कुछ भी निषेध नहीं मैं तुम्हें एक विधायक धर्म देना चाहता हूं जिसमें संसार को भी आत्मसात कर लेने की क्षमता है जिसकी छाती बड़ी है जो संसार को भी पी जा सकता है और फिर भी जिसका सन्यास खंडित नहीं होगा जो बीच बाजार में संन्यास्त हो सकता है जो घर में रह के अग्रही हो सकता है जो संसार में होकर भी संसार का नहीं होता तो एक अर्थ में मैं चारवाक से सहमत और एक अर्थ में सहमत नहीं इस अर्थ में सहमत हूं कि चारवाक बुनियाद बनाता है जीवन की लेकिन अकेली बुनियाद से क्या होगा मंदिर बनेगा नहीं तो बुनियाद व्यर्थ है और तुम्हारे तथाकथित साधु संत मंदिर तो बनाते हैं लेकिन बुनियाद नहीं लगाते उनके मंदिर थोथे होते कभी भी गिर जाएंगे गिरे ही हैं अब गिरे तब गिरे क्योंकि जिनकी कोई नींव नहीं है उन मंदिरों का क्या भरोसा उनमें जरा संभल के जाना कहीं खुद गिरे और तुम्हें भी न ले डूबे मैं एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता हूं जिसमें संसार संसार की भौतिकता न्यू बनेगी और सन्यास और परमात्मा की गरिमा मंदिर बनेगी मैं तुम्हें एक ऐसी दृष्टि देना चाहता हूं जिसमें किसी भी चीज का विरोध नहीं है सभी चीज का अंगीकार है और एक ऐसी कला रूपांतरण का एक ऐसा रसायन देना चाहता हूं जिसमें हम पत्थर में भी परमात्मा की मूर्ति खोजने में सफल हो जाएं और जहर को अमृत बनाने में सफल हो जाएं यह हो सकता है और जब तक यह नहीं होगा इस पृथ्वी पर दो ही तरह के लोग होंगे जो ईमानदार होंगे वो चारवाकवादी होंगे जो बेईमान होंगे वो आस्तिक होंगे धार्मिक होंगे ये कोई अच्छे विकल्प नहीं कि ईमानदार आदमी को तो चारवाकवादी होना पड़े और धार्मिक आदमी को बेईमान होना पड़े ये कोई अच्छे विकल्प नहीं है हमने दुनिया को चुनने के लिए कोई ठीक ठीक राह नहीं दी मैं तीसरी ही बात कर रहा हूं मैं कहता हूं बिना बेईमान हुए धार्मिक हुआ जा सकता है लेकिन तब चारवाक को अंगीकार करना होगा तब चारवाक को इंकार नहीं किया जा सकता खाना पीना और मौज जीवन की स्वाभाविकता है जिन ऋषियों ने कहा अन्नम ब्रह्म उन्होंने ये समझा होगा तभी कहा अन्न को जो ब्रह्म कह सके सोचकर कहा होगा अनुभव से कहा होगा अन्न को ब्रह्म कहने का क्या अर्थ हुआ इसका अर्थ हुआ कि भोजन में भी उसको ही अनुभव करना स्वाद में भी उसका ही स्वाद लेना यही चारवाक को बदलने की कीमिया हुई खाओ तो उसे पियो तो उसे मौज मनाओ तो उसके आसपास वह न भूले और परमात्मा को हमने कहा रस रूप रसो वैसा और क्या चाहिए वही रस है उस रस का प्रमाण दो तुम्हारी आंखों में उसकी रसधार बहे तुम्हारे प्राणों में उसका रस गीत गूंजे तुम्हारा व्यक्तित्व उसके रस की झलक दे प्रमाण बने इसलिए कहता हूं नाचो गाओ उत्सव मनाओ इसलिए कहता हूं कि परमात्मा की तरफ जब जा ही रहे हो तो रोते रोते क्यों जाना जब हंसते हुए जाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों जाना और अगर रो भी तो तुम्हारे आंसू भी तुम्हारे आनंद के ही आंसू होने चाहिए जलो भी तो उसकी आग में जलना और जब उसकी आग में कोई जलता है तो आग भी बड़ी शीतल होती और जब उसकी आग में कोई जलता है तो आग भी जलाती नहीं केवल निखारती चारवाक एक पुराना दर्शन है अति प्राचीन शायद सर्वाधिक प्राचीन क्योंकि आदिम मनुष्य ने सबसे पहले तो खाओ पियो और मौज मनाओ इसकी ही खोज की होगी परमात्मा की खोज तो बहुत बाद में हुई होगी परमात्मा की खोज के लिए तो एक परिष्कार चाहिए परमात्मा की खोज तो धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध हुआ होगा कुछ लोगों का कुछ लोगों की हृदय तंत्री बजी होगी तब हुई होगी चारवाक आदिम दर्शन सनातन धर्म से सारी बातें बाद में आई होंगी चारवाक को बुनियाद बनाओ क्योंकि जो सनातन है और जो तुम्हारे भीतर छिपा है जो तुम्हारी बुनियाद में पड़ा है उसको इंकार करके तुम कभी संपूर्ण ना हो पाओगे उसको इंकार करोगे तो तुम्हारा ही एक खंड टूट जाएगा तुम अपंग हो जाओगे और अपंग व्यक्ति परमात्मा तक नहीं पहुंचता ख्याल रखना सर्वांग होना होगा तुम्हें अपनी सर्वांग सुंदरता में ही उसके तरफ यात्रा करनी होगी लेकिन लोग प्रगट में चार वाक नहीं है अब मैं पार्लियामेंट के अनेक सदस्यों को जानता हूं जो शराबबंदी के लिए पीछे पड़े और शराब पीते मैं उन्हें उनसे पूछा भी है कि तुम जब शराब पीते हो खुद पीते हो तो शराबबंदी के खिलाफ में क्यों नहीं काम करते क्यों शराबबंदी के लिए चेष्टा करते तो वो कहते हैं आखिर जनता से वोट लेने हैं या नहीं जनता के सामने तो एक चेहरा एक मुखौटा लगा के रखना पड़ेगा रही पीने की बात सो तो हम घर में कर सकते हैं मित्रों में कर सकते सभी पीते बाहर हम एक चेहरा बना के रख सकते मैं ऐसे नेताओं को भी जानता हूं जो शराब पी के ही शराबबंदी के पक्ष में व्याख्यान करने जाते हैं मैं एक विश्वविद्यालय में जब विद्यार्थी था तो उसके जो वाइस चांसलर थे महाशराबी थे और शराबबंदी के खिलाफ व्याख्यान दिया उन्होंने और जब व्याख्यान दिया तो वो इतना पिए हुए थे कि उनकी गांधीवादी टोपी दो बार गिरी पहली बार गिरी तो उन्होंने टटोल के अपने सिर पर रख ली जब दूसरी बार गिरी इतने नशे में थे कि उन्होंने बगल के आदमी की टोपी उतार के अपने सिर पर रख ली जब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होता था तो दो प्रोफेसर उनके घर छोड़ने पड़ते थे 24 घंटे पहले को उनको पीने ना दे क्योंकि दीक्षांत समारोह में वो बड़ी गड़बड़ कर देते थे जिनको बीए की डिग्री देनी उनको एमए की डिग्री दे देते जिनको पीएचडी की डिग्री मिलनी उनको बीए की डिग्री मिल पाती ऐसा जब एक बार हो चुका और फिर वहां बीच में उनको टोकना भी संभव नहीं था वही सबसे बड़े अधिकारी थे मैंने उनसे पूछा कि कम से कम जिस दिन शराबबंदी के पक्ष में आपको बोलना था उस दिन तो ना पीते उन्होंने कहा मैं पीऊ ना तो मैं बोल ही नहीं सकता जब पी लेता हूं तभी तो इस तरह की व्यर्थ की बातें बोल सकता हूं नहीं तो बोल ही नहीं सकता इस तरह की फिजूल की बकवास बिना पिए नहीं हो सकती मुरारजी भाई देसाई के मंत्रिमंडल में जितने लोग हैं उनमें से कम से कम 75 प्रतिशत शराब पीते इससे ज्यादा भला पीते हो जिन लोगों ने ठीक हिसाब लगाया वो तो कहते 90 प्रतिशत लेकिन मैं कहता हूं थोड़ा कम करके ताकि अगर अदालत में भी मुझे प्रमाण देना पड़े तो मैं दे सकूं पचहत्तर प्रतिशत तो निश्चित पीते लेकिन एक एक पाखंड है जो धार्मिक आदमी में पाया जाता है कहता कुछ करता कुछ दिखाता कुछ होता कुछ हमने दो ही विकल्प छोड़े आदमी के लिए या तो वो शुद्ध भौतिकवादी हो वह भी अच्छा नहीं क्योंकि उससे जीवन बड़ा सीमित हो जाता है आकाश से संबंध टूट जाता है पृथ्वी पर सड़कना ही हमारे जीवन की नियति हो जाती फिर हम आकाश में उड़ नहीं सकते फिर सूर्य की ओर उड़ान नहीं भर सकते और या फिर पाखंड हमारे हाथ में लगता है या तो हम झूठे हो जाते ऐसे झूठे कि हमें याद भी नहीं पड़ता कि हम झूठे हो गए अगर कोई झूठ ही झूठ बोलता रहे जीवन भर तो झूठ भी सच जैसा मालूम होने लगता है एक कवि महोदय कविता पाठ करने के पहले हुटरों को सचेत करते हुए बोले देखिए यदि आपने मुझे हुट किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा यह कथन सुनकर हाहा ही, ही कर रहे सारे हुटर गंभीर हो गए थोड़ी देर बाद उनमें से एक हुटर ने प्रश्न किया कि क्या आप सचमुच ही आत्महत्या कर लेंगे कभी महाराज ने कहा बिल्कुल बिल्कुल निश्चित है ये बात ये तो मेरी पुरानी आदत है मैं तो सदा ऐसा करता रहा हूं झूठ बोलते बोलते एक ऐसी सीमा आ जाती कि तुम्हें पहचान में ही ना आएगा स्वयं कि तुम झूठ बोल रहे हो निरंतर दोहराए गए झूठ सच जैसे मालूम होने लगते पाखंड धर्म बन गया है मैं नहीं चाहता कि तुम चारवाक को अस्वीकार करो मैं चाहता हूं तुम चार बाग को स्वीकार करो चारवाक की स्वीकृति बिल्कुल स्वाभाविक है प्राकृतिक है सुस्वादु भोजन में पाप क्या है खाने पीने में और मौज उड़ाने में मनुष्य की गरिमा है महत्ता है तुम जरा देखो पशु भी खाते पीते पशुओं के खाने पीने में और आदमी के खाने पीने में फर्क क्या है एक ही फर्क है कि कोई पशु खाने पीने में उत्सव नहीं मनाता अगर एक कुत्ते को रोटी मिल गई तो वो चार और कुत्तों को निमंत्रित नहीं करता कि आओ भाई रोटी कुत्ते को मिल गई तो वो भागता है कोने में एकांत खोजता है किसी को निमंत्रण नहीं देता कहीं कोई आना जाए इस डर से पीठ कर लेता दूसरों की तरफ मनुष्य चाहता है मित्रों को बुलाए परिजनों के बीच बैठे भोजन को उत्सव बना लेता है वहां मनुष्य की संस्कृति है सभ्यता है मैंने जिन वाइस चांसलर का उल्लेख किया वे आदमी प्यारे थे शराब उन्होंने कभी अकेले नहीं पी कभी अगर मित्र उनके घर इकट्ठे ना हो पाए तो वो बिना पिए सो जाते थे मैंने पूछा ऐसा क्यों उन्होंने कहा अकेले पीने में क्या अर्थ है पीने का मजा तो चार के साथ है तुम चकित होगी ये जानकर कि शराब पीने वाले लोग अक्सर शराब नहीं पीने वाले लोगों से ज्यादा मिलनसार होते ज्यादा मैत्रीपूर्ण होते ज्यादा उदार होते और कारण क्योंकि शराब पीने का मजा ही चार के साथ है अब जो स्वमूत्र पीते हैं वो तो कोई चार के साथ नहीं पिएंगे वो तो हो जाएंगे एकंडे वो तो छिपके पिएंगे उनको तो छिप के पीना ही पड़ेगा उनमें किसी तरह की मनुष्यता नहीं हो सकती मोरारजी देसाई जब जवान थे तो एक लड़की से शादी करना चाहते थे पिता पक्ष में नहीं थे बात इतनी बिगड़ गई कि पिता ने कुएं में कूद के आत्महत्या कर ली मोरारजी को बहुत लोगों ने समझाया कि शादी तो अब तुम कर ही लेना जिससे करनी है लेकिन कम से कम अभी कुछ दिन तो रुक जाओ मगर वो नहीं रुके पिता मर गए लेकिन तारीख जो उन्होंने तय कर ली थी ठीक तीन दिन बाद पिता की आत्महत्या के तीन दिन बाद शादी हुई शादी उन्होंने करके ही रहे अब तो कोई विरोध करने वाला भी नहीं था अब तो अगर महीने पंद्रह दिन रुक जाते तो कुछ हर्ज ना था लेकिन एक तरह की अमानवीयता मुरारजी देसाई की लड़की ने भी आत्महत्या की उन्हीं के कारण पिता ने भी उन्हीं के कारण की और डर यह है कि पूरा मुल्क कहीं उनके कारण ना करे उनकी लड़की देखने दाखने में सुंदर नहीं थी वैसी रही होगी जैसे वे हैं तो देर तक लड़का नहीं मिल सका सत्ताईस वर्ष की उम्र में बामुश्किल उसने एक लड़का खोजा वो लड़का भी उसमें उत्सुक नहीं था वो मुरारजी तब चीफ मिनिस्टर थे बंबई के उनमें उत्सुक था कि उनके सारे सीढ़ियां चढ़ लेगा मुरारजी को यह पसंद नहीं था जानते हुए भली भांति की उनकी लड़की को लड़का मिलना मुश्किल है उनका ही ढंगढर्रा लड़की में था अब ये बामुश्किल मिल गया है किसी बहाने सही मगर चूंकि उन्होंने विरोध किया लड़की ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उससे भविष्य में कोई आशा नहीं थी कि कोई दूसरा लड़का मिल सकेगा जब अस्पताल में जली हुई लड़की को देखने वो गए मरी हुई लड़की को देखने गए तो एक शब्द नहीं बोले डॉक्टर चकित अस्पताल की नर्सें चकित न उनके चेहरे पे कोई भाव आया न एक शब्द बोले एक मिनट वहां खड़े रहे लौट पड़े कमरे के बाहर आके डॉक्टर से कहा कि जैसे ही औपचारिकता पूरी हो जाए लाश को मेरे घर के लोगों को दे दिया जाए ताकि अंत्येष्टि क्रिया की जा सके और चले गए ऐसी कठोरता है ऐसी अमानवीयता नहीं शराबियों में नहीं मिलेगी शराबी में थोड़ी सी भलमनसाहत होती वो जो चार मित्रों को बुलाकर भोजन करता है उसमें थोड़ी भलमनसाहत होती थोड़ा मिलनसारिता होती उसमें मैत्री का भाव होता है ऐसे तो पशु पक्षी भी भोजन करते हैं मनुष्य में और उनमें इतना ही भेद है कि मनुष्य भोजन को भी एक सुसंस्कार देता है टेबल है कुर्सी है चम्मच है बैठने का ढंग है धूप बाली गई है फूल सजाए गए हैं रोशनी की गई है दिए जलाए गए इस सब के बिना भी भोजन हो सकता है ये सब भोजन का अंग नहीं है लेकिन ये सब भोजन को एक संस्कार देता है एक सभ्यता देता है अकेले में एक कोने में बैठ के शराब पी जा सकती लेकिन जब तुम पांच मित्रों को बुला के गपशप करके गीत गा के पीते हो तो पीने का मजा और है चारवाक को इनकार करने के लिए मैं राजी नहीं हूं चारवाक मुझे पूरा स्वीकार है लेकिन चारवाक पर रुकने को भी मैं राजी नहीं इतना ही काफी नहीं है मिलनसार होना अच्छा खाने पीने को संस्कार देना अच्छा मैत्री अच्छी मगर इतना ही पर्याप्त नहीं है परमात्मा की तलाश भी करनी और चारवाक में और परमात्मा की तलाश करने में मुझे कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता सच तो यह है मुझे दोनों में एक संगति दिखाई पड़ती है एक सेतु दिखाई पड़ता है मैं तुमसे नहीं कहता कि पाखंडी बनो मैं तुमसे कहता हूं सच्चे रहो जैसे हो वैसे अपने को स्वीकार करो और इस सरलता और सहजता से ही धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ो परमात्मा की तरफ जाने को अकारण असहज मत बनाओ परमात्मा तक जाने की यात्रा जितनी सहजता से हो सके उतनी सुंदर है दूसरा प्रश्न भगवान बंबई के गुजराती भाषा के पत्रकार और लेखक श्रीकांति भट्ट ने कृष्णमूर्ति के प्रवचन में आए हुए बंबई के लोगों को बुद्धिमत्ता का अर्क कहा है श्रीकांति भट्ट आपसे भी बंबई में मिल चुके हैं और यहाँ आश्रम में भी आए थे लेकिन उन्होंने आपके पास आने वाले लोगों को कभी बुद्धिमान नहीं कहा आप इस बाबत कुछ कहने की कृपा करेंगे कैलाश गोस्वामी श्री कांति भट्ट ठीक ही कहते कृष्णमूर्ति के पास जो लोग इकट्ठे होते हैं वो तथाकथित बुद्धिमान लोग ही क्योंकि कृष्णमूर्ति की बात बस गणित और तर्क की बात है उसमें हृदय नहीं है उसमें भाव नहीं भक्ति नहीं उसमें जीवन का गीत नहीं केवल जीवन का शुष्क विश्लेषण उसमें जीवन का नृत्य नहीं सिर्फ नृत्य का गणित और दोनों बातों में भेद है एक तो वीणा कोई बजाए और एक कोई वीणा के संगीत को कागज पर लिपिबद्ध किया जा सकता है संगीत की लिपि होती कागज पर लिपिबद्ध किया जा सकता है उस कागज पर लिपिबद्ध संगीत का विश्लेषण करें दोनों में बड़ा भेद है कुछ लोग जो विश्लेषण प्रिय हैं जो चीजों को खंड खंड करके टुकड़े टुकड़े करके उनकी व्याख्या करने में रस लेते कृष्णमूर्ति में उन्हें बहुत आकर्षण मालूम होगा मेरी उत्सुकता तर्क में नहीं है मेरी उत्सुकता प्रेम में मेरी उत्सुकता गणित में नहीं मेरी उत्सुकता गीत में मेरी उत्सुकता लिपिबद्ध संगीत में नहीं है वीणा को बजाने में पांडित मेरे लिए आसार है पागलपन में मेरी बड़ी श्रद्धा है तो मेरे पास तो श्री कांति भट्ट को कैसे ये लग सकता है कि यहां बुद्धिमत्ता का अर्क यहां तो लगता होगा दीवाने इकट्ठे हुए पागल इकट्ठे हुए मस्ताने इकट्ठे हुए यह तो है ही मधुशाला कृष्णमूर्ति के पास जो लोग जा रहे हैं वह जमात अहंकारियों की है अगर तुम्हें अहंकारियों की कोई शुद्ध जमात कहीं देखनी हो तो कृष्ण मूर्ति के पास मिलेगी और कृष्ण मूर्ति भी थक गए हैं उस जमात ऊब गए मगर उनके कहने का ढंग उनके बोलने का ढंग उनकी प्रस्तावना ऐसी है कि सिवाय उन अहंकारियों को कोई दूसरा उनके पास कभी इकट्ठा नहीं हो सकता कृष्णमूर्ति स्वयं तो ज्ञान को उपलब्ध है लेकिन उनकी अभिव्यक्ति शुष्क है उनकी अभिव्यक्ति से परमात्मा रस रूप है इसका कोई पता नहीं चलता उनकी अभिव्यक्ति से तल्लीनता से भी मिल सकता है सत्य इसकी कोई संभावना नहीं खुलती उनका स्वर एक है वह ध्यान का स्वर है जागरूक होना है चित्त को जागकर देखते रहना है सजग होकर यह एक मार्ग है बस एक मार्ग एक दूसरा मार्ग भी है ठीक इसके विपरीत वह प्रेम का मार्ग है डूब जाना है लीन हो जाना जागरूक दूर दूर नहीं खड़े रहना है तल्लीन हो जाना मैं दोनों ही मार्गों की बात कर रहा हूं क्योंकि जगत में दोनों तरह के लोग कुछ है जो ध्यान से उपलब्ध होंगे उनके लिए मैं विश्लेषण भी करता हूं उनके लिए मैं तर्क की बात भी बोलता हूं और कुछ है जो प्रेम से उपलब्ध होंगे उनके लिए मैं मादक गीत भी गाता हूं क्योंकि मैं दोनों विपरीत बातें एक साथ बोलता हूं क्योंकि दोनों विरोधाभासों को एक साथ एक संगति में लाता हूं जो लोग सिर्फ सोच विचार से जीते हैं उन्हें मेरी बातों में विरोधाभास दिखाई पड़ेगी असंगति दिखाई पड़ेगी स्वाभाविक क्योंकि कभी जब मैं महावीर पर बोलता हूं तो शुद्ध तर्क होता हूं और जब मीरा पर बोलता हूं तो शुद्ध अतर्क होता हूं जो मुझे सुनेंगे उन्हें धीरे धीरे ये लगेगा कि इस बात में तो विरोधाभास है असंगति है इसलिए तर्क से जीने वाला व्यक्ति मेरी बातों में असंगति पाएगा कृष्णमूर्ति की बातें बड़ी संगत है क्योंकि वे एक ही स्वर दोहरा रहे हैं पचास वर्षों से उस स्वर में उन्होंने कभी भी हेरफेर नहीं किया उस स्वर में उन्होंने कभी भी कोई असंगति नहीं की दो और दो चार दो और दो चार दो और दो चार ऐसा पचास वर्ष से दोहरा रहे जो मुझे सुनता है मैं कभी कहता हूं दो दो चार और कभी कहता हूं दो दो पांच और कभी कहता हूं दो दो तीन और कभी कहता हूं दो दो जुड़ते ही नहीं और कभी कहता हूं कि दो और दो तो सदा से एक ही हैं जोड़ोगे कैसे तो मेरे पास एक और ही तरह का व्यक्ति इकट्ठा हो रहा है एक और ही अन्यथा प्रकार का कृष्णमूर्ति के पास केवल वही लोग इकट्ठे होते हैं जिन्हें ये भ्रांति है कि वे बुद्धिमान है पाया क्या इकट्ठे होते रहे सुनते भी रहे संग्रह भी बढ़ गया सूचनाओं का मिला क्या तीस तीस साल चालीस चालीस साल कृष्णमूर्ति को सुनने वाले लोग मेरे पास आते और कहते सब समझ में तो आ गया मगर मिला कुछ भी नहीं ऐसी समझ किस काम की मैं तुम्हें समझ नहीं देता मैं तुम्हें अनुभव देता हूं मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि इतना जान लो इतना जान लो मैं कहता हूं इतने डूबो इतने डूबो मैं तुम्हें धक्का देता हूं सागर में जो इस धक्के को झेलने को राजी स्वभावता श्री कांति भट्ट को वे कोई बुद्धिमान लोग मालूम ना मालूम पड़े हुए और कांति भट्ट स्वयं पत्रकार हैं लेखक हैं तो स्वयं भी गणित और तर्क से ही सोचते होंगे गणित और तर्क के पार भी एक विराट आकाश है इसकी उन्हें कोई खबर नहीं जो मुझे समझेंगे वे मेरी बातों में कृष्णमूर्ति को भी पा सकते जो कृष्णमूर्ति को समझेंगे वे कृष्णमूर्ति की बातों में मुझे नहीं पा सकते कृष्णमूर्ति का तो छोटा सा आंगन है साफ सुथरा कृष्णमूर्ति की तो छोटी सी बगिया है साफ सुथरी बगिया भी विक्टोरिया के जमाने की इंग्लैंड की बगिया कटी छटी साफ सुथरी सिमिट्रिकल एक झाड़ इस तरफ तो दूसरा झाड़ ठीक उसके ही अनुपात का माप का दूसरी तरफ लान कटा हुआ कृष्णमूर्ति में बहुत कुछ है जो विक्टोरियन वो असल में बड़े हुए इस तरह के लोगों के साथ एनी बिसेंट लीड बिटर्स इन लोगों के साथ बड़े हुए इन्होंने पाला पोसा इन्होंने शिक्षा दी इंग्लैंड में बड़े हुए वो छाप उन पर रह गई तो मेरे बगीचे को देखो जंगल है जैसा मेरा बगीचा है वैसा ही मैं हूं कहीं कोई सिमिट्री नहीं कोई तालमेल नहीं एक झाड़ ऊंचा एक झाड़ छोटा रास्ते इर्छे तिरछे मुक्ता है मेरी मालिन मुक्ता ग्रीक है ग्रीक तर्क बहुत चेष्टा की उसने शुरू में कि इस तरफ भी ठीक वैसा ही झाड़ होना चाहिए जैसा उस तरफ दोनों में समतुलता होनी चाहिए बहुत चेष्टा की उसने कि किसी तरह झाड़ों को काट छांट के आकार दिया जा सके लेकिन धीरे धीरे समझ गई कि मेरे साथ ये ना चलेगा चुरा के चोरी से मेरे अनजाने पीठ के पीछे छिपा के कैंची लेके वो झाड़ों को रस्ते पे लगाती थी धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि मेरा बगीचा जंगल ही रहेगा जंगल में मुझे सौंदर्य मालूम होता है बगिया में मौत आदमी का कटा छटा हुआ बगीचा सुंदर नहीं हो सकता कटे छटे होने के कारण ही उसकी नैसर्गिकता नष्ट हो जाती है मैं नैसर्गिक का प्रेमी हूं और निसर्ग बड़ा है निसर्ग बहुत बड़ा है एक जैन फकीर ने एक सम्राट को बागवानी की शिक्षा दी और जब शिक्षा पूरी हो गई तो वो परीक्षा लेने उसके बगीचे में आया सम्राट ने एक हजार माली लगा रखे थे और परीक्षा के दिन के लिए तीन वर्ष तैयारी की थी और सोचता था कि गुरु आके प्रसन्न हो जाएगा कोई भूल चूक न छोड़ी थी यही भूल चूक थी ये तो बहुत बाद में पता चला बिल्कुल समग्र रूपेण बगिया पूर्ण थी यही अपूर्णता थी क्योंकि पूर्ण चीजों में मृत्यु आ जाती जहां पूर्णता है वहां मृत्यु छा जाती जब गुरु आया तो सम्राट सोचता था अपेक्षा करता था बहुत प्रसन्न होगा आह्लादित होगा लेकिन गुरु बड़ा उदास होता चला गया जैसे जैसे बगिया में भीतर गया और उदास होता चला गया सम्राट ने कहा आप उदास मैंने बहुत मेहनत की एक एक नियम का परिपूर्णता से पालन किया है गुरु ने कहा वही चूक हो गई तुमने नियमों का इतनी परिपूर्णता से पालन किया है कि सारा निसर्ग नष्ट हो गया ये बगीचा झूठा मालूम पड़ता है सच्चा नहीं और मुझे सूखे पत्ते नहीं दिखाई पड़ते सूखे पत्ते कहां हैं जहां इतने वृक्ष हैं वहां एक सूखा पत्ता रास्तों पर नहीं सम्राट ने